अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा कोई मुसीबत नहीं पहुंचती और जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता है वो उसके दिल को हिदायत देता है और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है